बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद बारह माह है अल्लाह की किताब में जिस दिन से उसने आसमान और जमीनों को पैदा फरमाया इनमें से चार महीने हरमत वाले हैं ये मजबूत और दुरुस्त दीन है तो इन महीनों के मामले में अपनी जानों पर जुल्म न करो और मुसलमानों तुम सब मिलकर मुशरकों से जंग करो जैसे वो सब तुमसे लड़ते हैं और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है